ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादश अध्याय सप्तश श्लोक तक कुछ विचार हो गया है सत्रहवें श्लोक तक विचार हो गया तो द्वितीय अध्याय के <clears throat> एकादश श्लोक से लेकर अष्टादश अध्याय के सत्रह श्लोक तक क्या हुआ कर्म और ज्ञान की चर्चा हो गई ज्ञानी को कर्म की वो कर्म का संन्यास है कर्म करने का अधिकार नहीं है यदि आत्मभाव में पहुंचा है तो यदि देह भाव में है <clears throat> जिज्ञासु अवस्था में कर्म करना होगा नहीं देहता सत्यम तत्व कर्माण शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी तो यति ऐसा आया है तो देहाभिमान से युक्त है यदि तो अपने वर्णाश्रम विहित जो कर्म होगा अधिकार प्राप्त कर्म को करना चाहिए निष्काम भाव से करना चाहिए ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए जिससे कि अंतकरण की शुद्धि आदि होगी धीरे धीरे चलते चलते ज्ञान में पहुंचेगा और मोक्ष होगा तो शुरुआती साधन कर्म होते हैं निष्काम भाव से करना शास्त्रीय कर्म मनमाना कर्म नहीं शास्त्रीय कर्म करना चाहिए ये देहाभिमान युक्त है देहा में आत्मभाव है आत्मबुद्धि है ये देहाभिमान गलित हो गया नहीं है देहाभिमान तो वहां कर्म की आवश्यकता नहीं उसको सन्यासी है कर्म का त्याग नित्य नैवित्तिक काम में कर्म तो पहले भी करता ही नहीं था नित्य निमित्त चल रहा था उसमें भी त्याग संन्यास है उसके साधन शिखा सूत्र आदि का त्याग कर्म के साधन यही निष्कर्ष हुआ है अभी तक एक गीता शास्त्र का निष्कर्ष यही निकला अभी तक दो विभाग करके कहा गया ज्ञान और कर्म मुमुक्षु और ज्ञानी यदि ज्ञानी है ज्ञान हो चुका है कर्म की संन्यास कर्म का संन्यास है त्याग है यदि मुमुक्ष अवस्था में है तो निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करे शास्त्रीय कर्म करे ये कहा गया है अब इसके आगे क्या बोलते हैं कर्म के प्रेरक कौन होंगे जो कर्म करने वाला व्यक्ति है अभी माने मैं मनुष्य उस पना में बैठा हुआ है मेरा कर्तव्य बनता है करेंगे निष्काम काम से कर्म करना चाहता है उसका प्रेरक कौन होगा कौन प्रेरणा देता है कर्म करने के लिए और कर्म का स्वरूप क्या है ये दो बातों की चर्चा होनी है किसको कर्म कहा जाए कर्म के प्रेरक कौन प्रेरणा कौन देते हैं तो हमारे में दो प्रकार के मनोभाव हो जाते हैं उसमें कर्म के प्रेरक काल में क्या स्थिति होती है और कर्म काल में क्या स्थिति होती है यही कहना है शास्त्रार्थ उपसंहार आनंतरियम अथ भाष्य में अथ इदानम तेसाम कर्मणाम प्रवर्तकम उच्चते करके बोल रहे हैं और उन्हीं कर्मों का जो मुख्य जन कर्म करते हैं उन कर्मों के प्रेरक प्रवर्तक माने प्रेरक अथ शब्द है शास्त्रार्थ का उपसंहार के अनंतर गीता शास्त्र का अर्थ था विषय था परम प्रयोजन था उसका कथन हो चुका है उसके अनंतर अर्थ शब्द का अर्थ और इधानी माने क्या है तो कहना चाहते हैं इधानी का अर्थ होता है प्रवर्तक उपदेश अपेक्षा इधानी शब्द के उसकी अपेक्षा हो रही है अपेक्षा है किसके प्रवर्तक के उपदेश कौन प्रवृत्ति कराते हैं कर्म पर प्रवृत्ति जोड़ने वाले कौन है कौन लगाते हैं प्रवृत्ति में इसका प्रेरक कौन है कर्म के इसकी अपेक्षा की अवस्था को इदान शब्द से कहा इदान शब्द अवस्था को बता इस समय हाँ। माने संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ तो पूरा हो गया अब इसके बाद इस सब वर्तमान में अब कर्म के प्रवर्तक की अपेक्षा माने मुमुक्षु अवस्था में जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके प्रवर्तक कौन है अथवा काम्य कर्म कर रहा है कोई व्यक्ति उस स्थिति में प्रवर्तक कौन है प्रवर्तक कोई ना कोई प्रेरक होंगे ना कर्म करने के लिए उसी को यहां दिखाना है और कर्म का स्वरूप भी दिखाए दोनों एक ही श्लोक में दोनों दिखाएंगे प्रवर्तक का स्वरूप और कर्म का स्वरूप जिसे प्रेरित होकर के कर्म करता है कर्म का स्वरूप दोनों एक ही श्लोक में दिखाना चाहते हैं ये कहना है अथ इधानीम तेसाम कर्माम में उच्चते कहा अथ माने शास्त्र का अर्थ संपूर्ण हो गया पूर्व में द्वितीय अध्याय से लेकर अष्टादश अध्याय तक जो कुछ है कर्म का उपदेश हुआ है ज्ञान का उपदेश हुआ है तो ज्ञानोत्तर काल में कर्म का संन्यास और ज्ञान से पहले कर्म जिसका हम आपसे कर्म यही इस प्रकार से सिद्ध हुआ है एक ही व्यक्ति को दोनों है कर्म भी है ज्ञान भी है पूर्वावस्था में कर्म है आगे जाके ज्ञान है एकाएक ज्ञान में बैठ नहीं सकता हमेशा कर्म में भी नहीं रहना बात इतनी है अंतकरण की स्थिति हो गई पहचान हो गया यदि विषयों में बिल्कुल बिल्कुल लोलुपता समाप्त है अंधकर्म की शुद्धि अंधकर्म शुद्धि के लिए कर्म कर रहा था वो नित्य बीत गई वह कुर्बान और दुर्तक्षण पाप नाश करता है नित्य कर्म नैमित कर्म के माध्यम से ऐसा आया है तो यदि अंधकर्म शुद्ध है अपने को धोखा नहीं देना वास्तविकता समझना फिर कर्म की आवश्यकता नहीं है अंधकर्म शुद्धि के लिए कर्म था नदी पार होने के बाद नौका की कोई काम नहीं है साध्य प्राप्त हो गया तो साधन की आवश्यकता नहीं है तो अंतकर्म शुद्धि का पहचान स्वयं को है स्वयं जाने यदि शुद्ध है कि नहीं है माने यदि विषय लोलुप है तो अंतकर्म अशुद्ध है मनो ही दिविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धम मन दो प्रकार का मन एक ही मन है प्रकार गति दो उसकी शुद्ध मन और शुद्ध मन अशुद्धम काम संकल्प यदि विषयों का चिंतन करता है तो मन अशुद्ध है शुद्धम काम विवर्जितम काम विषय यदि विषय के चिंतन रहित है तो शुद्ध मन है स्वयं हम जान सकते हैं हमारे मन की स्थिति में है शुद्ध है कि अशुद्ध है स्वयं हम पहचान सकते हैं तो यदि अशुद्ध मन है तो शुद्ध करने की कोशिश करें अशुद्ध है तो उस शुद्धि को बनाए रखने की कोशिश करें बात इतनी है तो यदि मन शुद्ध है विषय चिंतन नहीं है तो उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है उसके लिए संन्यास है कर्म का त्याग संन्यास स्थिति है तो अब मन यदि शुद्ध नहीं हुआ है तो कर्म करना होगा तो कर्म का प्रेरक कौन है प्रश्न उठेगा कौन प्रेरणा देता है कर्म करने के लिए अथ इधान अथ बड़े शास्त्र का अर्थ गीता शास्त्र का अर्थ जो वेद का भी अर्थ था समाप्त हो गया ये कर्म और ज्ञान दो ही प्रकार के मार्ग बताया कर्म कर्म का संन्यास सारे वेदों में सारे उपनिषद आदि पे यही बातें हैं उसके तो कथन हो गया द्वितीय अध्याय से लेकर अष्टादश अध्याय तक अब तक अथवा ने उसके पश्चात अनंतर अनंतर ही में शब्द है या उसके पश्चात इधान मान इस समय में वर्तमान में अब तो प्रेरक की अपेक्षा हो रही कर्म के प्रेरक कौन कर्म करने वाले के मन में होगी कौन प्रेरणा दिला कर्म उसकी अपेक्षा होने पर कर्म नाम प्रवर्तक पूछे देखा कर्म का जो प्रवर्तक है प्रेरक है उसको कहते हैं कहा जाता है कहते यही है अच्छा। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्म कर्म करते ते त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानम ज्ञान सारे विषयों को विषय करने वाला ज्ञान सामान्य विषय ज्ञान कहा हुआ है कोई विशेष विषय नहीं सामान्य विषय मात्र को विषय करता है जो ज्ञान सुभाषुभ विषयों को विषय बनाने वाला ज्ञान जानकारी और ज्ञेयम मानी ज्ञेय वस्तु जानने योग्य वस्तु ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाता है परिज्ञाता जानने वाला व्यक्ति परिता ज्ञाता शुभाशुभ का फल आदि को जानने वाला जो होगा त्रिविधा ये तीन प्रकार कर्म चोदना कर्म के प्रेरक ही तीन होते हैं विषय का ज्ञान है विषय भी है और ज्ञाता भी बैठा हुआ है जानने वाला भी है तो कर्म करने के लिए प्रेरित होता है व्यक्ति ये कर्म के प्रेरक तीन होते हैं ज्ञान किसका ज्ञान विषय का ज्ञान यह विषय हो गया विषय भी है ज्ञान भी है जानकारी भी है सुभाष विषय जानता है और जानने वाला व्यक्ति भी मौजूद है ज्ञाता इसको कहते हैं कर्म के प्रेरक चोदना का अर्थ होता है प्रेरणा हृदय चुद प्रेरणे ऐसा धातु चुरादि में दो धातु प्रेरणा अर्थ में रुद धातु नोदयती ऐसा बनता है शुद्ध का चोदयती रूप होता है मैंने प्रेरणा देता है इसका अर्थ यही होता है प्रेरणा देने वाले तीन है क्यों यहां पर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त इसलिए है ये लूट नहीं किया क्यों यहां आशा समझो युद्ध सूत्र से उच्च प्रत्येक अंत धातु है सुरादि का धातु है शुद्ध धातु चौधरी बना हुआ है तो आगे लूट को बाद करके क्या प्रत्यय हुआ यूज प्रत्यय हुआ न्यास शब्द यूज यूज का यू का होना हो गया और टाप लगा दिया स्त्रीलिंग बन गया शब्द छोटा यही होता है ज्ञानम ज्ञम परिज्ञाता तीन चीज त्रिपुटी जिसको बोला जाए ज्ञान ज्ञ ज्ञाता ये तीनों कर्म के प्रेरक होते हैं ये तीनों वस्तु जब है हमारे भीतर में मौजूद है तो कर्म करने की इच्छा होगी आपकी इसने की जानकारी के बिना इच्छा नहीं होगी कर्म करने की इष्ट अनिष्ट विषय जानकारी ज्ञान विषय भी हो जानकारी भी हो और जानने वाले आप आप भी हों तब कर्म करने की इच्छा होगी ये तीनों होना चाहिए त्रिपुटी होनी चाहिए ज्ञानम व्ययम परिज्ञाता ज्ञान विषयों का ज्ञान शुभ विषय अशुभ दो प्रकार के विषय होते हैं शुभ अशुभ विषय उसके माने प्राप्ति और परिहार के लिए आगे आपकी कर्म होगी कर्म तब करेंगे ना दो प्रकार के विषय इष्टानिष्ट वस्तु है उसके प्राप्ति और परिहार दो प्रकार के लिए आप कर्म करेंगे एक तो प्राप्ति के लिए इष्ट वस्तु होगा तो प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे और इष्ट वत्व तो परिहार के लिए उसके दूर होने के लिए कर्म करेंगे तो ये तीन जब हो जाता है जानकारी विषयों की है विषय भी है आप जानने वाले आप भी हैं तीनों होने पर कर्म करने की अरे इच्छा होती है ये कर्म के प्रेरक के तीन होते हैं ज्ञान भी हो विषय भी हो ज्ञाता भी हो तब कर्म करने की इच्छा होती है ये प्रेरक के तीन बनते हैं कहा कर्म कर्मणा चोदना कर्म चोदना कर्म के जो प्रेरक हैं ये प्रवर्तक हैं यही बोलते हैं और कर्म किसको कहेंगे फिर कहते हैं कर्णम कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह कहा हुआ है इंद्रिया हमारे पास मौजूद हो कुछ करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है हम्म, और कर्म कर्म में क्रिया नहीं लेना कर्म का अर्थ क्रिया नहीं मीमांसकों के यहां कर्म माने क्रिया होती है और कर्म क्या कर्म माने होता है कर्ता को अपने क्रिया के द्वारा प्राप्त करना अत्यंत इष्ट कम कारक हो उसको कर्म संज्ञा देते हो कर्म में द्वितीय लगाते हैं कर्म में द्वितीय विभूति होती बोलते वैयाकरण लोग कर्म उसी का नाम बोलते हैं वैयाकरण किसको कर्ता जो करने वाला व्यक्ति होगा उसको अपने क्रिया के माध्यम से प्राप्त करना इष्ट अतिशय इष्ट वस्तु हो उसकी कर्म संज्ञा वस्तु का नाम यहां कर्म होता है व्याकरण किसका होता है क्रिया का नाम नहीं आदि क्रिया को कर्म कहते हैं यज्ञ आदि क्रिया उसको कर्म कहते हैं वैयाकरणी वस्तु का नाम है जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति बोलते हैं देवदत्त को वर्तमान में क्या इष्ट है गांव पहुंचना इष्ट है वह क्रिया अपनी क्रिया क्या है गमनादि क्रिया पैरों को उठाना पटकना आदि करके जा रहा है प्राप्त करना किसको इष्ट है उसको गांव को देवदत्त को अपनी क्रिया के द्वारा गमन क्रिया के द्वारा अति प्रियतम कारक उस शब्द पे ग्राम है तो उस कर्म संज्ञा कर देते व्याकरण में कर्तरीप्सित तमम कर्म यह सूत्र है वहां और कर्मणी द्वितीय सूत्र है जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी द्वितीय है तब बनता है शब्द क्या बनता है देवदत्त ग्रामम गच्छति ऐसा प्रयोग हो जाता है तो यहां कर्म का अर्थ है इप्सिततम कारक प्राप्त करना इष्ट कारक कारक के है कर्म संज्ञा ये कर्म का अर्थ क्रिया में मीमांस को कर्म मैंने क्रिया यज्ञादि को कर्म बोलते हैं वो यज्ञादि क्रिया है यह कर्म मैंने व्याकरण के द्वारा वैयाकरण लोग जिसको कर्म कहते हैं वो कर्म कर्म इंद्रिया होनी चाहिए और इष्टतम विषय होगा कर्म करने के लिए और कर्ता भी होना चाहिए पहले ज्ञाता था अभी कर्ता में आ गया अब करने वाला वहां जानने वाला था साधन काल में क्या था जानने वाला ज्ञान ज्ञ ज्ञाता ऐसा था वहां यहां कर्म कर्म करता ये स्थिति है यहां भी त्रिपुटी देख रही है पहले के त्रिपुटी अलग थे ज्ञानम ज्ञम परिज्ञाता था वहां मानी ज्ञान जानने का जो विषय है और जानने वाला व्यक्ति ऐसा कहा था वो कर्म के प्रेरक वो और कर्म किसको कहेंगे तीनों को कर्म कहा जाता है ये तीनों सम्मिलित को कर्म संज्ञा दे कर्म कहा कहते हैं कहा कर्म इंद्रिया हो कारण इंद्रिया किस कर्म के लिए कौन सा इंद्रियों का प्रयोग होना है इंद्रिया चाहिए हर कर्म में और कर्म हमारे मैं अतिशय इष्ट कारक या कर्म हमारे क्रिया रे कारक है विषय है और कर्ता जो करने वाला कर्ता इति ये तीन त्रिविधा ये तीन प्रकार जो है कर्म संग्रह कहते हैं माने संग्रहते अस्मिन संग्रह कर्मणाम संग्रह कर्म संग्रह यही होगा जिसमें सारे कर्म का संग्रहित हो जाता है सारे कर्म सम्मिलित हो जाते हैं किसमें तीनों में कारण और कर्म करता इसमें संग्रहित हो जाते हैं सारे कर्म ये तीनों में समाहित है कर्म सारे ये कहा गया है ज्ञानम आया हुआ है तो भाषण में कहते ज्ञाते अनित ज्ञानम या ज्ञान शब्द भाव में नहीं है हाँ, करण कारक में लुट प्रत्यय किया हुआ है ज्ञा ज्ञा ज्ञा अवबोधन है धातु से ल्यूट प्रत्यय करके यू का अना करके ज्ञान बनाया हुआ है करण कारक में दिखाते हैं प्रत्यभाषिका जिसके द्वारा जाना जाता है वस्तु को उसको ज्ञान कहते हैं जिसके द्वारा किसके द्वारा जाना जाता है ज्ञान से जाना जाता है जानकारी से वस्तु को जाना जाता है ज्ञानम माने ज्ञाते अनेन इति विग्रह है इसका जिसके द्वारा जाना जाता है इसको ज्ञान कहा जाता है किस विषय का ज्ञान कहते हैं सर्व विषय सर्व विषय अविशेषण उत्तर है ज्ञान शब्द सभी विषय को विषय करने वाला है सामान्य रूप से कहा गया यहां ज्ञान शब्द इतना है मैं किसी विषय विशेष में संकोचित नहीं किया जानकारी किसी विषय की हो उसको ज्ञान कहते हैं ज्ञानम करते हैं थे अन्य तो विग्रह है ज्ञान शब्द बनाने के लिए ज्ञान धातु से ल्यूट प्रत्यय दिखाया है कर्ण कारण यदि सर्व विषयम सब संपूर्ण विषय को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा ना उसी ज्ञान कहा अविशेषण उचित है सारे विषय कोई भी विषय हो उसको जानकारी का नाम ज्ञान है सामान्य रूप से है विषय विशेष के लिए ज्ञान नहीं कहा जाए सभी विषय मात्र के लिए फिर जानता हो तो ज्ञान है जानने के साधन ज्ञान है तथा उसी प्रकार ज्ञम दूसरा ज्ञ पदार्थ कोई ज्ञान हाथ उसे अचोयत करेंगे तो ज्ञ बनता है जानने योग्य जानने को ज्ञ कहा जाता है ज्ञम माने ज्ञातव्यम वो ये तब्यत से द्वारा पर्यावाचक तबियत लगा गए ज्ञातव्य पदार्थ जानने योग्य पदार्थ को ज्ञ कहा गया ज्ञातव्यम तदपि सामान्य निर्भर तो ज्ञातव्य पदार्थ भी कोई विशेष नहीं सामान्य जिसको किसी को भी जानना होता है कब किसको जानना होता है सामान्य रूप सभी लिया गया माने विषय मात्र क्या होगा यही होगा सामान्य सर्वम उच्चते सबके सब कहा जाता है सर्व विषय विषय को जय शब्द से कहा हुआ है तथा तीसरे पात है परिज्ञाता परिज्ञाता माने उपाधि लक्षण अविद्या कल्पित तो भोक्ता जानने वाला भोक्ता फल भोक्ता जो होगा ये जानने वाला होता है परिज्ञाता उपाधि लक्षण माने शुद्ध आत्मा नहीं है उपाधि जिसका स्वरूप बना उपाधि लक्षण वाला है उपाधि के धर्म को अपने में आरोप करने वाला मान अंतर्गत उपहित जीवात्मा ये होता है पर जानने वाला ये होता है अमुक विषय मेरे लिए इष्ट है अमुक विषय मेरे लिए अनिष्ट है जानेगा तब कर्म करेगा प्राप्ति और परिहार के लिए क्या करेगा तो अनिष्ट हो तो परिहार के लिए कर्म करेगा और इष्ट हो तो प्राप्ति के लिए तो परिज्ञाता ये होता है फल को जानने वाला इस इतना लाभ होगा मुझे शत्रु को हटाने पर इतना लाभ होगा इष्ट मिलने पर इतना लाभ होगा दोनों में लाभ दिखता है उसको परिज्ञाता ही होता है क्योंकि फल को उद्देश्य के बिना कर्म की प्रवृत्ति कोई भी नहीं होगा प्रयोजन अनुद्देश्य बंधु भी प्रवर्तित है इसलिए भोक्ता बोल दिया हम्म। फल भोक्ता फल की इच्छा से कर्म करेगा ना यदि भोजन करने की इच्छा न हो तो भोजन क्यों बनाएगा इच्छा है भूख है इच्छा है तब तो भोजन बनाता है हाँ। फलेच्छा जो होती है साधन इच्छा की जननी होती है क्या होती है फलेच्छा साधन इच्छा की जननी होती है मान फल की इच्छा जो होती है साधन इच्छा साधन करने की इच्छा की मां हो जाती है फलेच्छा साधन इच्छा की जननी फलेच्छा साधन इच्छा की जननी होती है <clears throat> तो इसलिए भोक्ता शब्द दिया है यहां परिज्ञाता करते हैं कि यह है उपाधि लक्षण शुद्ध आत्मा नहीं लेना भोक्ता उपाधि स्वरूप वाला अंतकरण विशिष्ट वाला है अविद्या कल्पित अविद्या के द्वारा कल्पित है वास्तव में शुद्ध आत्मा में भोक्तित्व तो है ही नहीं अविद्या के द्वारा कल्पित भोक्ता अविद्या के द्वारा कल्पित आया है उपाधि में तादात्मक मान लिया उसने इतेत त्रयम ये तीनों के तीनों ज्ञान ज्ञ परिज्ञाता ऐसा हम अविशेषण सर्वकर्माणाम प्रवर्तिका प्रवर्तक ये तीनों सभी कर्मों के लिए प्रवर्तक ही होते हैं सुभाषुभ कोई भी कर्म होगा ये तीनों सभी कर्मों के प्रवर्तक तीन होते हैं कौन ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये प्रवर्तक होते हैं माने ज्ञान है विषयों का ज्ञान है इष्टानिष्ट लाभ हानि का ज्ञान है और विषय के सामने विषय का ज्ञान विषय भी है ज्ञान भी है विषय भी है और जानने वाला व्यक्ति भी है तो आगे कर्म होगा दो प्रकार में कोई कर्म होगा इष्ट प्राप्ति के लिए हो चाहे अनिष्ट निवृत्ति के लिए हो कर्म तो करेगा ही सभी कर्मों का प्रवर्तक एक कर्म चोदना बोला तीन प्रकार ही है कर्म के प्रेरक चोदना करते मतलब प्रेरक माने चोदना माने प्रवर्तिका ही बोले प्रेरणा देने वाले ये तीन हैं त्रिविधा कितने प्रकार तीन है इनके विधा माने प्रकार त्रिप्रकार कर्म चोदना का तीन प्रकार के कर्म कर्म के प्रेरक हैं कर्म के लिए प्रेरित करने वाले तीन हैं कहा ज्ञानादि नाम ही त्रयाम सन्निपात यह तीनों के तीनों सामने हो ज्ञान भी हो ज्ञाय भी हो ज्ञाता भी हो तीनों के तीनों तीन में से एक के अभाव में तो नहीं होगा विषय यहां ये जानकारी नहीं है इष्टानिष्ट हमें जानकारी नहीं है तो प्रवृत्ति होगी ना हम न हो तभी प्रवृत्ति नहीं होगी जानने वाला भी चाहिए ये मेरे लिए इतना लाभ या हानि है समझना पड़ेगा ये विषय के द्वारा क्या होगा हानि लाभ और वस्तु भी होनी चाहिए वस्तु न हो तब भी नहीं ज्ञान है ज्ञाता है नहीं हो पाएगा ये तीनों के तीनों त्रयाणाम सन्निपात ज्ञानादि नाम ही त्रयाणाम ही मन इस बात जो ज्ञानादि तीन है ज्ञान ज्ञ ज्ञाता तीनों के सन्निधि में होने पर हान उपादान आदि प्रयोजन <coughs> सर्वकर्मारंभ सियाद त्याग रूप ग्रहण रूप दो प्रकार के कर्म होते हैं हान और उपादान त्याग और ग्रहण दो प्रकार के कर्म होते हैं एक तो ग्राह्य होते हैं त्याग्य होते हैं दो प्रकार कर्म महान उपादान आदि प्रयोजन ये प्रयोजन होता है वहां ये, ये प्रयोजन वाला कर्म आरंभ से सारे कर्म का आरंभ ये तीनों होने पर हो जाता है कौन तीनों ज्ञान ज्ञा ज्ञाता ये तीनों होने पर सारे कर्म का आरंभ होता है हान रूप त्याग रूप कर्म अथवा ग्रहण रूप कर्म दोनों का होता कर्म होता है तथा उसके पश्चात ये कर्म होगा ये तीनों के ज्ञान होगा उसके पश्चात पंचवीर अधिष्ठान आदि भी आरब्धम जो पांच पहले कहा था कर्म के आरंभ में तीन कारण है पांच कारण है बताया था जो अधिष्ठान को तथा करता कर्म से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवम से रात्र पंचम करे कहा था उसके पश्चात ये होगा पांच के द्वारा जो अधिष्ठान आदि जो पांच हैं उसके द्वारा आरब्धम होने वाले कर्म कौन है बांगमय कायाश्रय व्यंजन त्रिधा राशि उत्तम तीन प्रकार के ढेर बने थे वो वाणी से होने वाले कर्म मन से होने वाले कर्म शरीर से होने वाले कर्म तीन तीन राशि था कर्मों का पांच से होने वाले कर्मों में तीन राशि होते हैं या तो शरीर से करेगा या वाणी से या मन से तो त्रिदा राशि होतम त्रिशु आदि करते हैं ये तीन जो कर्ण आदि है ना कर्म जो पांच पांच प्रकार के अधिष्ठान आदि से निष्पन्न वाले कर्म तीन जो आदि तीन है कर्ण कर्म करता ये तीन में संग्रहित हो जाते हैं सारे कर्म चाहे शरीर से किए गए कर्म हो चाहे वाणी से हो चाहे मन से हो सभी का तीन में समावेश हो जाता है कहा करण कर्ता और कर्म इसमें समावेश हो जाता है कर्म कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह यही है चाहे शरीर से हुआ कर्म हो चाहे वाणी से हो तो ये तीन ही होते हैं वहां करण होगा वह उपयोगी साधन होगा और कर्म माने जो वैयाकरणों का कर्म है कर्ता के द्वारा कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिस को प्राप्त करना इष्ट है उसको उसको कर्म बोलते हैं भैया कर्म कारक को कर्म कहते हैं कर्तरीप से तमम कर्म ऐसा है कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र और कर्म ही द्वितीय कारक सूत्र है कर्म में द्वितीय विभूति होती कहते हैं तो <clears throat> ये जो कर्म है और कर्ता करने वाला व्यक्ति ये तीनों में ही कर्म समाहित हैं माने शरीर से किया हो चाहे मन से किया हो वाणी से किया हो जो कर्म जो पंच पांच अधिष्ठान आदि के कारण के माध्यम से जो किए गए कर्म थे ये तीन में ही समाहित हो जाते हैं सब संग्रहित हो जाते हैं सारे कर्म ये कहना है यहां उसके पश्चात पहले तो कर्म के प्रेरक मिल गए हमें ज्ञानम ज्ञान परिज्ञाता ये कर्म के प्रेरक अब कर्म की इच्छा हो गई तो फिर ये तीन के माध्यम से कर्म होना है ये तीनों को ही कर्म के समूह माना जाता है कर्म हो और कर्ता हो कर्म हो कहा हुआ तथा का अर्थ वही वहां तथा उसके पश्चात ज्ञान ज्ञानोत्तर कालीन मैंने प्रेरक हो गए मिल गए उसके पश्चात पंचवीर अधिशाधवीर आरब्धम बांध मन काय सहाय वेदना त्रिदाराश राशभूतम जो तीन प्रकार के ढेर में बनाया गया था शरीर से मन से वाणी से होने वाले कर्म किंतु करते समय पांच होते हैं कहा हुआ था त्रिशु कर्णादिशु संग्रहित है तीन जो यहाँ कर्णादि है ना कर्णम कर्म करते थे कहा हुआ तीन है उत्तर उत्तरार्ध में इसमें संग्रहित होता है तो सारे कर्म सुभाषु कर्म जो भी ये तीन में समावेश हो जाते हैं कर्ण है कर्ता है कर्म है कर्म माने विषय इष्टतम विषय होगा सही होगा कर्णादि संग्रहित इति एतद उच्चते पांच अधिष्ठान आदि के द्वारा होने वाले जो कर्म थे मन से वाणी से शरीर से होने वाले जितने भी कर्म होते थे उन कर्मों में इसी में संग एकत्रित कर दिया जाता है ये तीनों में जिनमें करण कर्म करता ये कहा कर्म कर्म मानी क्या क्रियते अनैनित कर्म देवदत्ता आदि व्यक्ति जिसके द्वारा कर्म करता है किनके द्वारा करता है इंद्रियों के माध्यम से करेगा इंद्रियों के माध्यम से इसलिए इंद्रियों को कर्म कहा जाता है जैसे लेखनी के माध्यम से लिखता है व्यक्ति लेखनी ना हो तो लिख नहीं सकता तो साधन कर्ता का जो उपयोगी साधन को करण कहते हैं या देखने सुनने का काम कर रहा है व्यक्ति उसके साधन क्या इंद्रिया है नहीं तो कैसे देखेगा बात कैसे सुनेगा करणम माने क्रियते अन्य करण ये ल्यूट प्रत्यय यह है ना करण कारक में है क्री धातु से ल्यूट करके करणम बनाया हुआ है करण कारक में कहते हैं करणम क्रियते अने विग्रह यही है अने क्रियते यदि करण इसके द्वारा किया जाता है इसलिए इसको करण कहते हैं साधन बाह्यम श्रोत आदि दो प्रकार के करण हैं एक बाह्यकरण एक अंतकरण दो प्रकार के करण साधन बाह्यम श्रोत्रादि बाह्यकरण तो श्रोत्रादि इंद्रिया और अंतस्तम बुद्धि आदि भीतर में है बुद्धि मन आदि वो भी साधन है जैसे बाह्यकरण है वैसे भीतर के करण है वो अंतस्थ भीतर के करण है बुद्धि आदि है और कर्म शब्द आया आगे कर्म का अर्थ कर दिया दो प्रकार के करण और आगे कर्म कर्म इप्सित ईप्सित तमम जो प्राप्त कर्म अच्छा इष्ट हो उसको माने कर्म कहा गया यहां यही है क्रिया से जिसको प्राप्त करना चाहता है उसको कर्म कहते हैं दया कर्म कर्म मान ईप्सित हम कर्तु क्रिया या त्याग के मान में कहते हैं है कर्ता का जो क्रिया के द्वारा प्राप्त करने योग्य है उसको कर्म कहा गया विषय प्राप्त कर रहा है कर्ता ने अपने कर्म के द्वारा वही है कर्ता करणाराम व्यापारिता कर्ता कौन है इंद्रियों को व्यापार में लगाने वाला कौन होगा और देखने सुनने आदि का काम करता है इंद्रियों के माध्यम से जो है वह करता कर्म कर्म करते भी कहा था यही है करता कर्णानाम व्यापार था करणों के व्यापार युक्त कराने वाला कर्ण व्यापार करते हैं व्यापार में लगाता है कर्ण को उपाधि लक्षण एक उपाधि स्वरूप है शुद्ध आत्मा नहीं लेना करता उपाधि लक्षण हाँ अंतकरण उपाधि वाला ये करता इति स्त्री प्रकार त्रिविधा कर्म संग्रह कहा था त्रिविध तीन प्रकार ये भी यही है इसको कर्म कहा जाता है कर्म का सारे कर्म का संग्रह इसी में हो जाता है ये ना हो तो कर्म नहीं हो पाएगा ये है तीनों इंद्रिया हो और विषय हो इष्ट तत्व कारक हो और कर्ता करने वाला हो इसी को कर्म कहा जाता है ये कहा कर्म संग्रह संग्रह में जो संपूर्वक ग्रह धातु है ना वह अच प्रत्यय किया हुआ है तो नंदी ग्रह पचादी ने लीड भी अच्छा से अच किया है ग्रह बनाया संपूर्वक संग्रह बना है माने कर्ण कारक में कहते हैं अधिकरण कारक में अच प्रत्यय अधिकरण कारक में कहते हैं कर्म संग्रह संग्रहते अश्विन इति संग्रह जिसमें संग्रहित एकत्रित हो जाते हैं सारे के सारे उसको संग्रह कहा जाता है किसका संग्रह तो कर्मणा संग्रह कर्म संग्रह मान अधिकरण कारक में ग्रह धातु से अच प्रत्यय का करने के बाद में कर्म के साथ ष्ठ ष्ठ ष्ठ समाज दिखाया हुआ कर्मणा संग्रह कर्म संग्रह कर्म के संग्रह को कर्म संग्रह कहते हैं सारे कर्म इसलिए संग्रहित हो जाते हैं तीनों में कहा कर्म कर्म कर्म करते थे कहा हुआ ये तीनों कर्म कर्म येसु ही त्रिशु समवैति कहते हैं कर्म जो कर्म कहते हैं ना शुभाशुभ कर्म ये तीनों में संबंध रखता है किन तीनों में कर्म कर्म करता करण कर्म करता कर्म माने विषय है करने वाले कर्म है ये इन्हीं में सब समावेश हो जाता है कर्म ने संबंध रखता है सारे कर्म इसी पे संबंध रखते हैं और कहें ये तीन में कर्म होता है कारण हो कर्ता भी हो विषय भी हो कर्म होता है कहा कर्म येसु ही ये तीनों में ही कौन कर्म कर्म करते थे क्या हुआ है तीनों में त्रिशु ये तीनों में समवय थी तेना अयम त्रिविधा कर्म से ये तीनों को ही कर्म का संग्रह कहा गया सारे कर्म का संग्रह इसी में हो जाते हैं जिसमें कारण कर्ता विषय ये कहा है पहले वाले जो प्रेरक थे वो ज्ञान को लेकर थे ज्ञान जयम परिज्ञाता ज्ञान और ज्ञ वस्तु और माने जानने वाला ये तीनों हो ज्ञान भी हो वस्तु भी हो जानने वाला भी हो तो कर्म करने के लिए इच्छा जागृत हो जाएगी आपकी ये कर्म के प्रेरक है ये तीनों और कर्म मान ये होता है कर्म कर्म करता है तीन को कर्म कह देते हैं हम सारे कर्म इसमें संबंध रखते हैं और कहीं नहीं है इंद्रियों में है और कर्ता में है और विषय में है कर्म का संबंध यही होता है ये कहा हुआ टीका से देखना है कर्मणाम येसु विदुषाम नादिकार कर्मों में जिन ज्ञानियों के तो येसु कर्माम जिन कर्मों में ज्ञानियों का अधिकार नहीं है जिन कर्मों में और अविदुषाम तो अधिकार है तो अज्ञानियों के लिए अधिकार है जिन कर्मों में यानी ज्ञानियों के लिए जिन कर्मों में अधिकार नहीं कहा नित्य निवृत्ति कर्मों में नहीं है और अज्ञानी के लिए कहा अधिकार नहीं काम में आदि में अधिकार नहीं है और नित्य नैवृत्ति को अधिकार है नित्य नैवृत्ति कर्म करते रहा जब तक अज्ञान अवस्था में है विदुषाम मान ज्ञानी नाम कर्माम येसु जिन कर्मों में कर्म बहुत सारे हैं नित्य है नैवित का काम में है निषिद्ध है प्रतिषिद्ध आदि कई कर्म हैं तो उनमें से जिन कर्मों में ज्ञानी का अधिकार नहीं है और जिन कर्मों में अज्ञानी का अधिकार है उनकी चर्चा करते हैं मान काम कर्म तो पहले छोड़ा हुआ है ज्ञानी ने छोड़ा है और मुमुक्ष ने भी छोड़ा है मान काम कर्म छोड़े बिना मुमुक्ष जागेगी नहीं नित्य निमित्त कर्म कर रहा है वही कर्म है उसमें भी ज्ञानी का तो अधिकार है ही नहीं वो कर्म से ऊपर हो गया अज्ञानी का भी है जिन कर्मों में नित्य निमित्त कर्म आदि की चर्चा है यहाँ अधिकार तेसाम वो एक कर्मणाम तेसाम कर्मणाम यही है प्रवर्तकम उच्चते है जो भाष्य में कर्मणाम शब्द था उसका अर्थ कर दिया उसके प्रवर्तक कहा जाता है प्रेरक उन कर्म को प्रेरक कौन है नहीं है ज्ञान शब्द से कर्ण विपत्तिया ज्ञान मात्रार्थत्व महा ज्ञाते अनित ज्ञान में जिसके द्वारा वस्तु को जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं कर्ण व्युत्पत्ति है यहां ज्ञान धातु से लुट प्रत्यय कर्ण कारक में किया गया तो कर्ण व्युत्पत्ति के द्वारा ज्ञान मात्रार्थ दो ज्ञान मात्र को ज्ञान कहा विशेष ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा विशेष वस्तु का ज्ञान ज्ञान नहीं आना इसको सामान्य ज्ञान ज्ञान मात्र को ज्ञान कहा गया यही है ज्ञानम इत्यादि शब्द से कहा था <clears throat> ज्ञानम ज्ञाते अरेने सर्व विषय इत्यादि कहा था अविशेषण उच्चते इत्यादि ज्ञेय शब्द से आप तद्वत एवं ज्ञातव मात्रार्थ जैसे ज्ञान शब्द का अर्थ कर दिया सारे विषय को विषय करने वाला मतलब कोई भी ज्ञान हो ज्ञान मात्र इस प्रकार ज्ञ शब्द भी विषय मात्र लेना एक विशेष विषय नहीं यह शब्द से आप तद्वत मानी ज्ञानवत जैसे ज्ञान शब्द सामान्य ज्ञान लिया हुआ है उसी प्रकार तद्वत एवं ज्ञानवत एवं ज्ञातव्य मात्रार्थ ज्ञातव्य वस्तु जितने भी होते हैं सबको ज्ञ शब्द से लेना है यह अर्थ है तथा इत्यादि शब्द का तथा यह मानी ज्ञातव्यम तद भी सामान्य नहीं सर्वोपचित ही कहा ठीक है आगे उपाधि लक्षणत्व तत्प्रधानत्व उपहितत्व तस्य अवस्तुत्वार्थम अविद्या कल्पित विशेषण कहते हैं और परिज्ञाता का अर्थ किया अविद्या कल्पित उपाधि लक्षणों अविद्या कल्पित भोक्ता बोला हुआ है परिज्ञाता का अर्थ किया है जानने वाला सही है तो उसका अर्थ करते हैं उपाधि लक्षण तो उपाधि लक्षण बोला भाष्य में माने तत्प्रधानम का उपाधि प्रधान वाला कौन प्रधान वाला हाँ, अंतकर्म प्रधान अंतकर्म के पीछे चलता है बुद्धि के पीछे चलने वाला उपाधि प्रधान तो उपहितत्व उपहित है उपाधि विशिष्ट है उसी को यहां पर उपाधि लक्षण सबसे से भाषिकार ने कहा है वह है ज्ञाता परिज्ञाता ज्ञाता यही होता है तस्य अवस्तुत्वार्थम वास्तव में वस्तु नहीं है वो जैसे जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा वास्तव में वस्तु नहीं हो वस्तु ऊपर है आकाश में एक चंद्रमा ऊपर है इसी प्रकार शुद्ध वस्तु है ये वास्तव में वस्तु नहीं है अब वस्तु दिखाने के लिए है ये अविद्या कल्पित इसलिए कहा हुआ है वास्तव में देखा जाए वस्तु नहीं उपाय तत्व तस्य अवस्तत्वार्थम जो उपाधि युक्त वाला है ना वास्तव में वस्तु नहीं हो के अविद्या कल्पित विशेष क्या दिया अविद्या कल्पित विशेषण दिया भाष्यकार अविद्या कल्पितम इत्यादि कहा था कल्पितो भोक्ता बोला था वास्तव में वस्तु नहीं वो यही है एतदेव त्रव ये जो तीन है ज्ञान ज्ञ ज्ञाता एतदेव त्रयम सर्वकर्म प्रवर्तकम सारे कर्म अनिष्ट जो सभी कर्म जितने भी कर्म सबके प्रेरक यही होते हैं वस्तु हो वस्तु का ज्ञान हो जानने वाला व्यक्ति हो तो आगे कर्म होगा कर्म के प्रेरक यही तीन होते हैं तक इत्यादि कहा था कहीं ऐसा अविशेष सर्वकर्माम प्रवर्तिका कहा चौदराकार प्रवर्तिका सबके प्रेरक यही है ये तीनों ठीक है कहा सर्वकर्माण प्रवर्तकम इति इति अध्याहर्तव्यम कर सर्वकर्माण भाष्य में दिया उसके आगे प्रवर्तकम ये पद का अध्यार करना चाहिए सर्वकर्मा का प्रवर्तकम ये अध्यार करना चाहिए सभी कर्मों का प्रवर्तक ये तीन है ये करना चाहिए चोदना मैंने क्रियाया प्रवर्तकम में यदि चोदना शब्दार्थ वहां चोदना शब्द आया मैंने क्रिया का प्रवर्तक को चोदना कहते हैं किसका क्रिया का प्रवर्तक कोई भी क्रिया होनी हो कर्म होना हो उसके प्रवर्तक ये तीन है ये चोदना शब्द कहते हैं प्रेरक प्रेरणा प्रेरक यही अर्थ होता है तेसाम सर्वकर्म प्रवर्तक तुम अनुभवे न साधे वो तीनों में ज्ञान ज्ञ ज्ञाता ये तीन है इनमें सभी कर्मों का प्रवर्तक स्थान से जो भी कर्म होगा इसका प्रवर्तक ये तीनों ही होते हैं यही अनुभव के द्वारा सिद्ध करते हैं क्या अनुभव है ज्ञानादि नाम ही त्रयाणाम सन्निपाते का ये तीनों होने पर ज्ञान ज्ञ ज्ञाता ये त्रिपुटी होने पर जब सामने तीनों है स्थिति में हान उपादान प्रयोजन सर्वकर्म से सियाद कहा त्याग रूप या ग्रहण रूप जो कर्म है सारे कर्म जो भी कर्म होंगे सारे कर्म का आरंभ होगा सभी कर्म आरंभ आरंभित हो जाते हैं ये तीनों के होने पर इसलिए इनको कर्म के प्रेरक माना गया है ज्ञान यह ज्ञाता ये तीनों को उसके पश्चात जब ये तीनों को अगर प्रेरणा हो गई तो आगे क्या होगा पांच प्रकार के अधिष्ठान आदि के द्वारा सिद्ध होने वाले जो कर्म है जो मन वाणी शरीर में होते हैं तीन कर्म ये सब कर्म होने लग जाते हैं वो कर्म किसका तीन में समावेश है होगी किसमें कर्म कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह कर्म ये तीनों में समापित है किसमें ज्ञान ज्ञान में नहीं कर्म कर्म कर्ता ये तीन ये कहना है ठीक है मैं देखना हानोपादान आदि यदि आदि पदेना उपेक्षा विवक्षिता हानोपादान आदि कहा हुआ है उपेक्षा भी एक कर्म होता है क्या है हाँ एक उपेक्षा कर देना गहरअंदाज कर देना वो भी एक कर्म माना जाता है ये भी हो इस प्रकार के कर्म जो आदि से ही लेना हाँ त्याग उपादान मान ग्रहण और तीसरे उपेक्षा तो, माने उसकी अपेक्षा नहीं उपेक्षा है त्याग भी ग्रहण भी नहीं है त्याग भी नहीं है ऐसी स्थिति है उदासीन भाव में रह जाना जिस कर्म में ऐसा भी होता है कर्म कर्म इत्यादि तात्पर्य आ रहा और कर्म किसको बोलते फिर कहा कर्म कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह उसके तात्पर्य बताते हैं तथा उसके पश्चात जो तीनों के द्वारा प्रवर्तक मिल गए तीनों के द्वारा प्रवृत्ति शुरू हो गई तो कुछ करेगा तो करने के लिए क्या चाहिए करण चाहिए बाह्य करण अं-, अभ्यंतर कर्म दो प्रकार के करण करता और कर्म विषय भी चाहिए कर्म इष्ट विषय भी हो यही कहना है तथा इत्यादि का आदेश को ठीक है आगे ज्ञानादि नाम प्रवर्तक तो तथा कर्म ज्ञानादि जो है ना तीन प्रवर्तक बन गए कर्म गए ज्ञान ज्ञ ज्ञाता ये प्रवर्तक बन गए उसके पश्चात ये तथा अर्थ यही है उसके पश्चात पंचवीर अधिष्ठान इत्यादि कहा था अच्छा। उगते अर्थे श्लोक भाग में बता रहे इस विषय में श्लोक का एक भाग है उत्तरार्ध भाग कर्म कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह का हुआ है तो यह तत् इत्यादि दिया था तथा पंचवीर भी बांबर कायासन न त्रिता राशि भूतम त्रिशु कर्मादिशु संग्रहते इति एतद उच्यते यही है यही यही कर्म होंगे तीन प्रकार से शरीर वाणी मन से होने वाले कर्म जो पांच अधिष्ठान आदि जिसमें निमित्त बने हुए हैं ये कर्म उसके पश्चात हो जाते हैं जब पहले वाला हो कौन प्रेरक हो ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता हो तब कर्म होते हैं बाह्यम अंतस्तम से द्विविधम कर्म कारण दो प्रकार के होते हैं साधन ये जीवात्मा के कर्म करने के साधन दो कौन बाह्य करण अंतस्थ करण चक्षुरादि इंद्रिया भीतर मन बुद्धि आदि स्थिति है दो होते हैं इनके कर्ण माने कर्ण व्युत्पत्तिया थी कर्ण व्युत्पत्ति कर्ण बनाने के कर्ण व्युत्पत्ति क्रियते थी कर्ण जिसके द्वारा किया जाता है करने का जो साधन होगा उसको कर्ण कहा जाता है जैसे लिखने के साधन को लेखन ही बोलते हैं उसके बिना आप लेख नहीं सकते पढ़ने के लिए साधन पुस्तक है उसके बिना पढ़ नहीं सकते इन्हीं को करण कहा जाता है उपकरण बोलते हैं करण बोलते हैं जो भी हो करण है ये तो क्रियते अनंत कर्णम ये दिया था कर्णम इत्यादि शब्द कर्णम क्रियते हमें बाह्यम स्रोत्रादि अंतस्तम बुद्धियादि ये कहा था उक्त लक्षण कर्म फिर कर्म क्या है फिर कर्म मैंने क्या है तो कर्म कहा ईप्सितम कर्म शब्द का व्याख्या है तो प्राप्त करना इष्ट है अतिशयन इष्ट अतिशयन इष्टतम इष्टम कर्तु कर्तुक्रिया व्यापार कर्ता को अपने क्रिया के द्वारा प्राप्त करना है जिसको उसकी कर्म संज्ञा कहते हैं व्याकरण को कारण की कर्म संज्ञा है यहां व्याकरण कर्म करते हैं कर्तुर इत्यादि कहता है स्वतंत्र ही करता कर्ता स्वतंत्र होता है अन्य पराधीन हो जाते हैं कर्ण पराधीन है हम चक्षुराधी का उपयोग करना चाहे न करना चाहे हमारे अधीनता है अपने अधीन होते हैं कर्म स्वतंत्र ही करता व्याकरण सूत्र स्वतंत्र करता सूत्र ही पाणिनि का कर्ता स्वतंत्र होता है स्वातंत्र कारक अप्रयुज्य तत्प्रयुक्त स्वतंत्रता क्या है अन्य कारकों के द्वारा प्रेरित न होना और अन्य को प्रेरित करना उसी को स्वतंत्र कहा जाता है अन्य से प्रेरित नहीं होता हो अन्य को प्रेरित करता हो उसको स्वतंत्र बोला जाता है अन्य के द्वारा प्रेरित नहीं होता और अन्य को प्रेरित करता हो उसको कहते हैं स्वतंत्र यही है स्वतंत्र करता वो स्वतंत्र होता है करता मान इंद्रियों को प्रयोग हम चाहें तो करें न चाहे न करें इंद्रियों के द्वारा हम प्रेरित नहीं होते हम इंद्रियों को अपने ढंग से प्रेरित करते हैं हम स्वतंत्र हैं इंद्रिय परतंत्र है इसलिए कर्ता बोला उसको प्रथम उक्त त्रिविधे कर्म संग्रह तीन कर्ण कर्ता कर्म ये तीनों में ये कर्मों का संग्रह कैसे होता है प्रश्न आए तो कहा कर्म इत्यादि कहा था कर्म संग्रह है ना कर्म संग्रह में यही है संग्रहते अस्मित संग्रह सारे कर्म का संग्रह हो जाता है जिसमें उसको कर्म संग्रह किसमें कर्म का संग्रह ये तीन है कर्ण कर्ता कर्म ये तीनों कर्मणों ही प्रसिद्धम कारकाश्रित्व इति भाव कर्म जो होता है ना प्रसिद्ध है कारक में आश्रित होता है किसी होता है कर्म ये तीनों होने पर ही कर्म होगा कारक में आश्रित होता कर्म करने वाला व्यक्ति चाहिए और उसके साधन चाहिए करने का साधन चाहिए विषय चाहिए जिसमें करना है ये तीनों में आश्रित होता था कर्म कर्म कर्म मैंने क्रिया रूप कर्म कौन सा कर्म उसके लिए तीन चाहिए कर्ता करण और विषय तीनों होने पर कर्म होना चाहिए तो इसलिए आश्रित है इसमें सारे कर्मों का संग्रह तीनों में होता है कारण कर्ता कर्म कर्म मेरे विषय ये आगे टीका में बोलते हैं अनंतर श्लोक दशक तात्पर्य आगे दस श्लोक से जो अर्थ आएगा बताएंगे एक साथ क्या बताएंगे ज्ञान तीन प्रकार का तीन श्लोक से बताएंगे कर्म तीन प्रकार का कर्ता तीन प्रकार का नौ श्लोक उसके लिए हो जाएगा मानी सात्विक राजस तामस तीन तीन प्रकार चलेगा और एक तीनों की भूमिका में अभी आने वाला सूत्र है दस सूत्र हो जाएंगे आगे बुद्धि और धृति वो बताएंगे तीन तीन श्लोक आएंगे अठारह हो जाएंगे दस सोलह हो जाएंगे और सुख के तीन प्रकार बताने वाले आएंगे अठारह हो जाएंगे अठारह श्लोक इनको गिनेंगे इनके गिनेंगे तीन सात्विक राजस्थान वो ज्ञान भी तीन प्रकार का होगा और कर्म भी तीन प्रकार का होगा कर्ता भी तीन प्रकार का होगा सात्विक राजस तामस भेद है बुद्धि तीन प्रकार की धृति तीन प्रकार की सुख तीन प्रकार का तो ये सब तीन तीन प्रकार के छह हो जाते हैं तीन तीन प्रकार अठारह श्लोक इसी में चले जाएंगे पहले दस श्लोक बताएंगे ये कर्म ज्ञान कर्म कर्ता को लेकर के तीन तीन करके नौ और ये श्लोक पहले वाला है ये दिखाने दस श्लोक बोलना चाहिए कहना है अनंतर श्लोक दशक तात्पर्य आगे आने वाले जो है हम अठारहवें श्लोक तक गए अब उन्नीसवें श्लोक से आगे दस श्लोक इनके लेना है इनके तात्पर्य पहले बताते हैं इनका प्रयोजन क्या है अथ इत्यादि अथ इधानिम क्रियाकारक नाम चाहे क्रिया हो चाहे कारक हो चाहे फल हो ये तीनों का सर्वेशा तीनों के तीनों क्रिया हो कारक हो फल हो तीन ही होते हैं गुणात्मकत्वाद क्रिया भी गुण स्वरूप है कारक भी गुण स्वरूप है त्रिगुणात्मिका है ना संसार तीनों गुणों कार्य रूप में परिणत है सब कर्म है कार्य रूप के गुण है ये कार्य का गुण है गुणात्मक ये गुण रूप से चाहे क्रिया में देखें चाहे कारक में देखें चाहे फल में देखें सब त्रिगुणात्मक है सतगुण रजगुण तमोगुण तीनों गुणों के कार्य बनते हैं इसलिए सत्व रजस तमो गुण भेद भेदतः सदगुण रजगुण तमो भेद के द्वारा क्रिया कारक फल तीनों के तीनों तीन भेद से दिखाए क्रिया भी तीन प्रकार के कारक भी तीन प्रकार और फल भी तीन प्रकार किसके भेद से सतुगुण रजुगुण तमुगुण के भेद से कोई सतुगुणी क्रिया वही रजुगुणी क्रिया वही तमुगुणी क्रिया भिन्न भिन्न क्रिया हो जाती कर्म हो जाता है कर्ता भिन्न कारक भिन्न भिन्न होगा हाँ, क्रिया और ज्ञान भी तीन प्रकार का होगा सात्विक राजस इत्यादि जो गुण के भेद से त्रिविदो भेदो वक्तव्य तीन प्रकार का भेद क्रिया कारक फल सभी का तीन प्रकार का भेद बताना चाहिए गुण भेद के कारण किसके द्वारा गुणों के भेदों के कारण क्रिया का कारक का फल का जो जो वस्तु संसार में है क्रिया हो का, क्रिया रूप है कारक रूप है फल रूप हो तीन तीन भेद होगा सारे वस्तुओं का ये दिखाना चाहते हैं इति आरंभ है इसलिए यहां अब उन्नीसवें श्लोक के आरंभ करते हैं कहना जा रहे हैं एक आना है टीका में है थोड़ी ज्ञानादि प्रस्ताव अनंतरम अर्थ शब्दार्थ ज्ञानादि प्रस्ताव पहले दिया था ज्ञानम ज्ञम परिज्ञाता त्रिविदा कर्म चोदना इत्यादि कहा था उसके अनंतर के लिए अर्थ शब्द बोला है भाष्य में अर्थ माने ज्ञानादि का प्रस्ताव तो कर दिया कर्म के प्रेरक का प्रस्ताव और कर्म का प्रस्ताव दोनों कर दिया उसके पश्चात यह अर्थ है अनंत अर्थ अर्थ शब्द है कहा इधानी प्रस्तुत ज्ञानादि अभांतर भेदा भेदापेक्षा महा तो प्रस्तुत ज्ञानादि ज्ञान ज्ञान पहले ज्ञान कहा था वस्तु का सभी विषयों का ज्ञान वो ज्ञान तीन प्रकार का होगा सतगुण रजगुण तम भेद से तमगुण भेद से ज्ञान भी तीन प्रकार का होगा एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं पूर्व श्लोक में जो कहा हुआ ज्ञान था ना वह ज्ञान तीन प्रकार का होगा इधानी प्रस्तुत जिनका प्रसंग आ चुका है ज्ञान का ज्ञानादि जो ज्ञानादि वस्तु हैं उनका अवांतर भेदापेक्षा सामान्य तो सभी विषय को विषय करता है ज्ञान के तो कुछ अवान्तर भेद है कुछ भेद है क्या भेद है सतुगुण रजुगुण तमुगुण के कारण तीन प्रकार का हो जाता है ज्ञान एक आना है भेदापेक्षा मित्र कहा तेसाम गुण भेदात्रित्या ज्ञान हो कर्ता हो कर्म हो जो भी हो तीन प्रकार को तेसाम ज्ञानादि नाम जो ज्ञानादि है गुण भेदात गुणों के भेद के कारण सतुगुण रजगुण तमु के कारण त्रय विद्य तीन प्रकार होने कारण बताते हैं गुणात्मकत्वाद ज्ञानादि गुण रूप है प्रकृति रूप का जो गुण है सदगुण रजगुण तम गुण उसके कार्य रूपी गुण है कौन है ज्ञान आदि वो तो कारण रूपी गुण है जो प्रकृति प्रकृति स्वरूप है ये कार्य रूप गुण है ये गुण का कार्य तो गुण ही है ये जैसे मिट्टी का कार्य घट मिट्टी ही है तो गुणों का कार्य गुण ही होता है तो ज्ञान आदि जो है गुण इष्ट गुण सत्वादि जैसे तीन प्रकार के होते कहा है वक्तव्य कहा हुआ है अब ये यही है ना भेदो वक्तव्य ज्ञान आदि का भेद बताना चाहिए गुण भेद के कारण बोला था वक्तव्य बक्षमाण श्लोक ना आगे नौ श्लोकों के द्वारा ज्ञान आदि का भेद बताना चाहिए नौ श्लोक है आगे ज्ञान तीन प्रकार का कर्म तीन प्रकार का कर्ता तीन प्रकार का इत्यादि बताएंगे नौ श्लोक के द्वारा तीन तीन भेद बताना चाहिए तीनों का ज्ञान का भी कर्म का भी करता भी यही है एवं स्थिति जब इनका भेद बताना इष्ट हो गया प्रथम अवांतर भेद प्रतिज्ञा क्रियते पहले अवांतर भेद है वास्तविक तो एक ही है ज्ञान तो एक ही है अवांतर भेद सतुगुण रूपा ज्ञान रजगुण रूप ज्ञान तमगुण रूप ज्ञान ज्ञान भी तीन प्रकार का होगा अवांतर भेद इति आरभ्य थे इसलिए अब आरंभ किया जाता अवांतर भेद के लिए यद्यपि तो ज्ञान सभी विषयों को विषय करने वाला ज्ञान एक ज्ञान है किंतु अवान्तर विशेष होता है कोई रजुगुणी ज्ञान होगा कोई तमगुणी होगा कोई सप्तगुणी ज्ञान होगा एक आना है श्लोक है ज्ञानम कर्म कर्ता च त्रिदय गुण भेदत गच्छते गुण संख्या ने यथावत श्रृणतान्यपी ज्ञान कर्मच कर्ता चिदव त्रिदैव गुणभेदत गुण संख्याने यथावत श्रृणुतान्यपि ज्ञानम जो ज्ञान है पूर्व श्लोक में ज्ञान कहा हुआ था कर्म भी कहा था कर्ता भी कहा था वहां पूर्व श्लोक में ज्ञान कर्म कर्ता मान पूर्वार्ध में ज्ञान शब्द है उत्तरार्ध में कर्म और कर्ता कहा हुआ है पूर्व श्लोक में ज्ञान कर्म से करता है ज्ञान है कर्म है करता है जो एक एक करके कहा था क्या कहा था एक एक बताया था ज्ञान वाले सभी विषयों को विषय करने वाले ज्ञान इत्यादि कहा हुआ था तो <clears throat> और कर्म कर्म शब्द पूर्व में दिया हुआ है कर्म और कर्ता कर्ता भी दिया हुआ है त्रिधा एवं तीन प्रकार है गुण भेद था त्रिधा एवं गुण के भेद से वो भी तीन तीन प्रकार होगा ज्ञान तीन प्रकार कर्म तीन प्रकार और कर्ता भी तीन प्रकार तामसी कर्ता राजसी कर्ता सात्विक कर्ता तामसी कर्म राजसी कर्म तामस कर सात्विक कर्म सात्विक ज्ञान राजस ज्ञान तामस ज्ञान तीन तीन प्रकार होगा ये कहना है कैसे ज्ञान को सात्विक मानना है आदि आदि आगे बताएंगे आप तो ये कहना है पृछते गुण संख्या ने गुण का सम्यक प्रकार से कथन होता है जिसमें गुणों का कथन होता है काशा काबिल शास्त्र में तीन प्रकार के ज्ञान तीन प्रकार के कर्ता तीन कर्म का चर्चा कहा है वहां काबिल शास्त्र में गुण संज्ञा है संपूर्वख्या धातु ख्या प्रकथन है जहां कथन होता है सम्यक प्रकार से कहा कापिल शास्त्र में गुण की चर्चा वहीं होती है गुण की विशेष चर्चा वहीं है कापिल शास्त्र में सांख्य शास्त्र में गुण संख्या प्रचते गुण का जहां गुणों का जहां कथन होता हो उसको गुण संज्ञान कहते हैं संपूर्वक ख्या धातु है ख्या धातु इसलिए उठ प्रत्यय किया है गुणों का कथन जहां होता हो सतोगुण रजगुण तमोगुण का कथन जहां होता हो कापिल शास्त्र है सांख्य सांख्य सिद्धांत सांख्य सिद्धांत में है वहां कहा जाता है इसको यथावत श्रोता ने भी जैसा वहां कहा उसी प्रकार यहां भी सुनो तो जैसे सांख्यों ने कहा हुआ है गुणों की चर्चा की है उसी प्रकार यहां भी समझो यथावत माने उसके अतिक्रमण न करते हुए सांख्य में जैसा कहा गुण की चर्चा जैसा की वैसे हम इष्ट इतने अक्षर भी सिद्धांत में विरोधी शास्त्र है हमारे सांख्य सिद्धांत हमारे सिद्धांत नहीं है किंतु गुणों के कथन में हमारी समानता है जिस गुणों की तीन प्रकार की चर्चा हो करते हम ये इस प्रकार मानते हैं गुणों के विषय में विषमता नहीं उनके साथ हमारी सिद्धांत में विरोध है स्थिति है तो पुरक्षित गुण संख्या ने कहा ज्ञान कर्म से करता था त्रिविध गुण तीन प्रकार तीन तीन प्रकार होते हैं गुणों के भेद से ज्ञान भी कर्म भी कर्ता भी तो कहां कहा जाता है ये गुण संख्याने पुरक्षते सांख्य शास्त्र को गुण संख्या बोलते हैं गुणों की चर्चा होती रहती वहां तीन गुणों की चर्चा वहां ईश्वर आदि की चर्चा नहीं है आत्मा आदि की चर्चा नहीं गुणों की चर्चा है वहां कहा जाता है तीन तीन प्रकार के भेद ज्ञान का कर्म का कर्ता का यथावत जैसे वहां का उसी प्रकार यहां सादृश्य अर्थ में बति प्रत्यय है तत्र तस्व उसी के समान यहां तस्व उस जैसा वहां का उसी प्रकार यहां माने तेरह क्रिया तो लिप चतपति से बती नहीं है तत्र तस्व के द्वारा है यहां उसी प्रकार है जैसा वहां का उसी प्रकार यथावत बति प्रत्यय है यथाशब्द से बति लगाया हुआ है यथा जैसे वहां काम उसी प्रकार सुनो कहानी अभी सुनो वो तीनों के तीनों के बारे में सुनो तीन प्रकार के ज्ञान तीन प्रकार के कर्म तीन प्रकार के कर्ता को सुनो मेरे से सुनो भगवान का भाष्य में कहते हैं ज्ञानम कर्म च कर्म मैंने क्रिया यहां कर्म शब्द इस श्लोक में आया क्रिया है क्या है हाँ वैयाकरणियों का कर्म नहीं लेना है श्लोक में पूर्व में भैया करने वाला कर्म लिया गया था विषय लिया गया था कर्म शब्द का यहां पर क्रिया को लेना मैंने तीन प्रकार की क्रिया सात्विक क्रिया राजसी क्रिया तामसिक क्रिया को कर्म कहना है ये श्लोक में ये पूर्व श्लोक में कर्म शब्द विषय के लिए कहा था इष्टतम विषय और यहां कर्म का अर्थ क्रिया है जैसे मीमांसकों का कर्म कौन सा कर्म मीमांस जी को कर्म कहते हैं क्रिया को बोलते हैं कर्म कर्म मरे क्रिया न कारकम पूर्व में कारक कहा गया था कर्म शब्द का अर्थ किया था पूर्व श्लोक में ऐसा नहीं समझ रहा यहां पारिभाषिकम जो पारिभाषिक था ना वैयाकरण का जो पारिभाषिक कर्म शब्द का अर्थ वही जानते हैं कारक बाकी वही नहीं जानता कर्म अपनी क्रिया को ही मानते हैं सब किंतु वैयाकरणी का पारिभाषिक शब्द है वही लोग समझे दूसरे ने समझे कोट भाषा उनकी कर्म मन यह एक विषय है इष्टतम विषय क्या है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना इष्ट हो जिस वस्तु को उसको कर्म कहते हैं वैयाकरण वस्तु का नाम कर्म होता हो गया जैसे ग्राम में बच्चे तो ग्राम कोई क्रिया नहीं ग्राम विषय है वस्तु होता है ये न कारकम पारिभाषिकम ईश्वरतम कर्म करता निर्भर तो का कर्म ये कर्म नहीं लेना यहां ये श्लोक में आया हुआ कर्म को कारक वाला तो कर्म नहीं लेना वैयाकरण पारिभाषिक शब्द है उनके वहां कोट भाषा है वैयाकरण का कर्म मन यह है जो व्याकरण पड़ा हुआ समझेगा कर्म शब्द आने पर दूसरा नहीं समझना कोट भाषा ईप्सितम कर्म जो ईप्सितम को कर्म कहते प्राप्त करना जैसे इष्ट हो अपने क्रिया के द्वारा कर्ता को उसको कर्म कहते हैं हमारे व्याकरण में वो कर्म यहां नहीं लेना इस योग में कर्म मैंने क्रिया यही है और कर्ता च कर्ता मैंने तन निवर्तक उस क्रिया के संपादन करने वाला कर्ता कर्ता सब ज्ञान कर्म से कर्ता चाहता कर्ता माने उस कर्म को संपादन वाले करता निवर्तक क्रियाणाम क्रिया का निवर्तक हो निर्वर्तक होगा संपादन करने वाला होगा उसको कर्ता कहते हैं जो क्रिया करने वाला त्रिधा एवं अवधारण त्रिधा ही है ना ये अवधारण के लिए कहा तीन ही है ज्ञान भी तीन ही है कर्म भी तीन ही है कर्ता भी तीन ही है न्यूनाधिक को हटाने के लिए एवं लगा दिया दो भी नहीं है चार भी नहीं है कितने तीन ही है न्यूनाधिक को हटाना दूर करना कम भी नहीं हो अधिक न हो न्यूनाधिक नहीं इतना ही है तीन ही प्रकार है ही ये अर्थ ही तीन ही है ऐसा अवधारण ये प्रकार अवधारण अर्थ में किस अर्थ गुण व्यतिरिक्त जात्यंत अभाव बधार्थम कहते हैं कोई गौण आदि कोई गुण से अतिरिक्त कोई जाति नहीं है संसार में क्या तीन गुण से अतिरिक्त तो कोई जाति नहीं है इसलिए त्रिधई ये बकार लगाया जो भी है संसार में जो भी पदार्थ है गुण है जो तो त्रिगुणात्मक है तीनों गुण है गुण से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है इसको दिखाने के लिए एवकार लगा दिया त्रिधई वही है गुण व्यतिरिक्त जो गुण सतगुण रजगुण तम गुण है ना जो सांख्य शास्त्र में कहा हुआ जो गुण है उससे अतिरिक्त जात्यंतर अभाव कोई वस्तु है ही नहीं अन्य वस्तु का अभाव प्रदर्शन के लिए कहा गया एवकार लगा दिया है इसलिए गुण भेदता बोलते हैं गुण के भेद से तीन तीन प्रकार होते हैं सब वस्तु ज्ञान हो कर्म हो कर्ता हो हर वस्तु तीन प्रकार का गुण को भेद से सत्वादि भेद नहीं करते सत्वगुण रजगुण तम गुण भेद से तीन तीन प्रकार हो जाते हैं यही है गुण भेद का होता है सत्वादि गुण का भेद सत्वगुण रजगुण तमगुण के भेद से प्रत्येक वस्तु तीन तीन प्रकार का होता है संसार में यह सांख्य शास्त्र में विशेष रूप से प्रतिपादन है यहां भी उसी प्रकार तुम सुनो ये कहना चाहते हैं जैसा वहां कहा उसी प्रकार की बात यहां सुनो हमारी गीता पे सुनो हम भी मानते इस बात को सभी वस्तु तीन तीन प्रकार होते हैं यही है प्रोच्यते कहा जाता है कहा सांख्य शास्त्र में कहा जाता है प्रोच्यते मैंने कथ्य थे यही है क्या प्रकथन धातु है कथन होता है गुण संख्या मैंने कापिले शास्त्र है गुण की जहां पर सम्यक प्रकार से चर्चा होती हो सम्यक ख्यायते स्मृतिक संख्यानम यही है जहां पर विशेष रूप से कथन होता हो कहा होता है मैं संपूर्व ख्या धातु से लुट प्रत्ये अधिकरण कारक करते हैं जिसमें कहा जाता हो सांख्य शास्त्र कपिल शास्त्र में जो कपिल मुनि का शास्त्र है तो कपिल शास्त्र बोलते हैं कपिल संबंधी को कापिल कहा जाता है तस् एकदम शास्त्र प्रत्यय लगाया जाता है कापिल शास्त्र का कपिल संबंधी जो शास्त्र है उनमें कहा जाता है तीनों गुणों की चर्चा है तदपि गुण संख्यान वो भी गुण के संख्या गिरने वाले शास्त्र है कौन वो जो कापिल शास्त्र है तदपि गुण संख्यान शास्त्र गुण भोक्तृ विषय प्रमाण विवाह गुण के जो भोक्ता के विषय में प्रमाण है किस किस गुण का कौन भोक्ता बना हुआ किस काल में हम किस गुण के भोक्ता बनते हैं कभी सतगुण के भोक्ता कभी रजगुण के भोक्ता कभी तमुगुण हम ही हो जाते हैं हमेशा सतगुण के भोक्ता नहीं होता कोई भी रजगुण के भोक्ता विषय भी नहीं होता हमेशा तमुगुण के भी नहीं होगा तो गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं रजुगुण तमगुण को बात करके सतुगुण जागृत होगा सतुगुण रजुगुण को बात करके तमगुण जागृत होगा चतुर्दश अध्याय बोल के आए हैं तम रज को बात करके सत्व होगा सत्व और तम को बात करके रज होगा इत्यादि है तो तीनों गुण है किंतु दो दबे हुए होते हैं एक कार्य कर, करने वाला समय होता है एक का दो सुप्त अवस्था में रहते उस काल में एक जागृत में आ जाता है ठीक इसी प्रकार दूसरे की बारी आएगी ये चलता रहता है गुणभोक्त के विषय प्रमाण में गुणभोक्ता के विषय प्रमाण है हम जो गुणों का भोग कर रहे हैं ना हमें स्वयं अनुभव है प्रमाण है क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण है तीनों गुण बारी बारी से आ रहे हैं हमारे सामने आ रहे हैं प्रमाण में परमार्थ ब्रह्मिकत्व विषय यद्यपि विरुद्ध थे यद्यपि देखो गुणभोक्ता के विषय में प्रमाण सांख्य शास्त्र में प्रमाण है गुणों के भोक्ता के विषय में लेकर के सांख्य शास्त्र काफी शास्त्र भी प्रमाण माना जाता है किंतु परमार्थ ब्रह्मय तत्व जो विषय है उनके यहाँ क्या है पुरुष नाना बोलते हैं अनेक मानते हैं पुरुष को हमारे यहाँ एक मानते हैं क्या मानते हैं जीवात्मा का तो ऐक्य उनके पास नहीं है और ब्रह्म भी उनके पास नहीं व्यापक तत्व नहीं उनके पास क्या पुरुष ही पुरुष होते हैं वहां जीवी जीव होते हैं तो परमार्थ ब्रह्म तो विषय जो वास्तविक जो ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा की एकता के विषय में यद्यपि विरुद्ध थे सांख्य शास्त्र यद्यपि हमारे से विरोध है सिद्धांत में विरोध है फिर भी गुण भोक्ता के विषय में प्रमाण है वो कौन सांख्य शास्त्र ते ही कापिला वो जो कप, कपिल सांख्य शास्त्र वाले लोग आए ना गुण गौण व्यापार निर्मय अभियुक्ता कहते हैं गुण के जो गौण हैं विषय हैं उनके व्यापार के निर्भर में बहुत अभियुक्त होते हैं वो उच्च स्थिति में है गुणों के जो विषयों का व्यापार गिरने में सक्षम है उन गुणों के विषय उनके जीवन भर की चर्चा उसी में है संशोधन वही करते रहते हैं इति तत्शास्त्रम अभी जो सांख्य शास्त्र है कापिल शास्त्र है जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है वो किंतु इतने अंश में ग्राह्य है कितने अंश में गुणों के विषय में तत्शास्त्र भी बक्षमाणार्थ तृत्यर्थत्व है ना उपादन दिए कहा आगे कहने वाली जो तीन तीन गुण की चर्चा होनी है यहाँ ज्ञान तीन प्रकार का कर्म तीन प्रकार का कर्ता तीन प्रकार का इत्यादि दिखाना है उसके लिए प्रशंसा रूप से उपाधि यते कहा ग्राह्य होता है ये भी गुण यहाँ यदि न विरोध गुण अंश में विरोध नहीं है उनके साथ हमारा यथावत श्रोता ने भी कहा परिचय गुण संख्या ने यथावत यथापद माने यथा न्यायम यथा शास्त्रम युक्ति संगत हो और शास्त्र संबद्ध हो शास्त्रों का अतिक्रमण करके युक्ति का अतिक्रमण करके सुनो सुनो तानी अपनी ज्ञान आदि ने जो ज्ञान आदि से कर्म करता ज्ञान कर्म करता से कहा हुआ है ज्ञान आदि ने तद भेद जाता नहीं उसके जो तीन प्रकार के भेद हो जाते हैं गुण भेद कृतानी किसके द्वारा वो ज्ञान में तीन भेद हो जाना गुण के भेद से किसके भेद से गुण भेद के द्वारा किए गए हैं वो सुनो सुनो ज्ञान तो एक ही प्रकार था किंतु तीन प्रकार हो जाता है गुण भेद के कारण सतगुण रजगुण तमगुण लगने से ज्ञान में भिन्न भिन्न काम कर जाता है बक्षमाणे अर्थे मन समाधि गुरु इत्यर्थ आगे जो कहने वाले तीन तीन प्रकार बताने वाले हैं तीनों का उसमें मन को एकाग्र करो सुनो ध्यान से सुनो इसके लिए कहा श्रेणु करके कहा ठीक है कर्तरिप शीतलतम कर्म ये वैयाकरणी कहते कर्म शब्द का अर्थ किंतु ये श्लोक में कर्म का अर्थ क्रिया लेना है क्या लेना है पूर्व श्लोक में कर्म का आया था कर्म कर्म करते वहां कर्म हमने वैयाकरणी वाला कर्म लेना था वहां ध्यान देना होगा यहां पर कर्म वाले यही है कर्तरिप कर्म ये पाणनी सूत्र है यदि यद परिभाष्य जो कहा जाता कौन भाषा है उनकी वैयाकरण नहीं समझता है कर्म का अर्थ विषय विशेष होता है करके बाकी नहीं समझते जो व्याकरण पढ़ा होगा वो समझेगा जो पारिभाषिक शब्द है कौन भाषा है जो दूसरे न समझे हम ही लोग समझे ऐसी भाषा होती है प्रत्येक कौम की जैसे मिलिट्रियों को होता है ना में क्या बोलते हैं हम समझते नहीं वो क्या बोल रहे हैं वो वो समझते हैं हम नहीं समझते ऐसा होता है तन्न अत्र कर्म वाच्य वो जो वैयाकरण का कर्म शब्द है ना यहाँ कर्म शब्द वाच्य वो नहीं होगा यहाँ तो क्रिया है क्या है हाँ ये जो हम कर्म तो करता तो मैं आया कर्म शब्द क्रिया है वो तीन प्रकार की क्रिया होती है समझना ये कहा विधान विधांतरम ज्ञानादिशु सुना गुणादि से अतिरिक्त रूप से अन्य प्रकार ज्ञान में है नहीं तीन प्रकार के जो गुण है ना उसके अतिरिक्त रूप से ज्ञान आदि में है नहीं गुण ही होते वो कार्य रूप में आयोग गुण है वो सब गुण से तीन गुण से अतिरिक्त रूप से वेदांतर अन्य प्रकार ज्ञानादिशु न निर्धारित हो उदाहरण इत्या कहते ज्ञानादि में नहीं है इस प्रकार निर्धारण करने के लिए अवधारण एव दिया त्रिदैवा में एवकार इसलिए है गुण इत्यादि कहा था गुण व्यतिरिक्त जात्यंतरा भाव पदार्थम ये कहा था एवकार इसके लिए है किसके लिए गुण से भिन्न कोई अन्य वस्तु है ही नहीं ये दिखाने के लिए कोई भी वस्तु है वो गुणात्मक है ही है एक दिखाना है ज्ञानादि नाम प्रत्येकम गुणभेद प्रयुक्त त्रैविध्य प्रमाण ज्ञानादि ज्ञान एक किंतु गुणभेद के कारण तीन प्रकार के गुण का कारण ज्ञान तीन प्रकार हो जाता है और आदि से ज्ञान कर्म भी ऐसे तीन प्रकार कर्ता भी तीन प्रकार पुरुषते गुण संख्या ने कहा था कहाँ कहा जाता है तीन भेद तीन भेद मान कापिल शास्त्र में कहा जाता है गुणों का जहां सम्यक प्रकार से कथन होता हो कापिल शास्त्र में है वहां कहा जाता है और हमारे साथ विरुद्ध नहीं प्रकृत गुण संख्या यथावत सुनो वहां जैसा कहा वैसे यहां भी सुनो तो ये बोलना चाह रहे हैं कापिलम पातंजलम इत्यादि शास्त्रम विरुद्धार्थत्वात अप्रमाणम कथम यह क्रियते तथा करें देखो सांख्य शास्त्र वैयाकरण शास्त्र वेदांत के द्वारा तक तो विरोधी है दोनों चाहे कापिल शास्त्र हो चाहे पातंजल शास्त्र हो दोनों के दोनों योग शास्त्र पातंजल व्याकरण है योग शास्त्र ये दोनों के दोनों विरोधी है आपके सिद्धांत से विरोधी है ये वेदांत से विरोधी है तो कैसे यहां ग्रहण करेंगे होंगे श्रोता सुनता भी करके कैसे कह दिया कापिलम पातंजलम जो पतंजल पतंजलि संबंधी शास्त्र है योग योग सूत्र आदि है अथवा सांख्य सूत्र आदि है जो भी है यह विरुद्धार्थत्वाद विरोधी अर्थ बताते हैं वो तो आपके वेदांत इससे विरुद्ध है आप जीवात्मा परमात्मा कहते करते हैं उनके पास है ही नहीं वो जीवात्मा भेद मानते हैं आप अभेदवादी हैं वो भेदवादी है तो क्यों यहां ग्रहण होगा उनका ये तो अवैधवादी ग्रंथ है गीता क्या है अप्रमाण हाँ। अप्रमाणम जो अप्रमाण है वो कथम यह प्रमाणीकृत है यहां कैसे प्रमाण किया जाता है पुरस्त गुण ने यथापत जैसा वहां का वैसे हम सुनो बोल रहे हैं आप कैसे प्रमाण कर दिया प्रमाणित कर दिया आपने उसको इस शंका आगे कहा तदपि ये कहा था भाष्य में कहा तदपि गुण संज्ञान वो गुण की संख्या कथन करने वाला शास्त्र है सांख्य शास्त्र शास्त्र गुणभोक्तृ विषय प्रमाण गुण के भोक्ता के विषय में प्रमाण है जो तीनों गुणों के भोग कर रहे हैं इस सभ्यता में कौन सा गुण आया वो समझता है प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है तीन प्रकार के गुण होते हैं हम्म। ज्ञान आदि तीन तीन प्रकार के होते हैं जानकारी तीन प्रकार की कभी यथार्थ ज्ञान होता है कभी अयथार्थ ज्ञान होता है कहीं विपरीत ज्ञान हो जाता है ये देखा जाता है कर्म विषय हो जाता है कर्ता भी इस प्रकार हो जाता है ये कहा टीका में कहते हैं आगे विषय विशेष से विरोध हाँ अद्वैत माने सिद्धांत में जाकर के विरोध है पातंजल का और हमारा और सांख्य का हमारा विरोध है विषय विशेष में जाकर विरोध होने पर भी सभी में विषय में विरोध नहीं होता विषय विशेष में विरोध है बाकी सब में विरोध नहीं होता मानव धर्म लेके देखते हैं सभी मानवों का सामान्य धर्म में विरोध नहीं आता विशेष धर्म में विरोध आ जाता है आपका विशेष धर्म भिन्न मेरा विशेष धर्म भिन्न या विरोध है सामान्य धर्म में विरोध है नहीं मनुष्य मात्र के लिए जो कर्तव्य होगा एक सामान्य विषय वहां भेद होता नहीं है विषय विशेष में विरोध होता है जहां भी होता है इसी प्रकार यहां भी है शास्त्रों में भी सांख्य शास्त्र और कापिल शास्त्र में जो कापिल शास्त्र सांख्य शास्त्र और योग योग शास्त्र में विषय विशेष में उनके साथ हमारा विरोध है ये सिद्धांत बोल रहे विषय विशेष से विरोध होती प्रकृति अर्थ यहां जो कहना है अभी इसमें विरोध नहीं है तीनों गुणों के कार्य वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं इस संख्या में कोई विरोध नहीं प्रकृति अर्थ है प्रामाण्यम अविरुद्धम उनके शास्त्र को प्रामाण्य देना प्रमाण करना प्रमाणित करना अविरोध विरोध नहीं है ये सिद्धांत का कहना है यद्यपि कापिलाद हो यद्यपि कापिल शास्त्र या योग शास्त्र है पतंजल शास्त्र है या गुण वृत्ति विचार है गुणों की वृत्ति जो भेद है उनके विचार में गौण व्यापार से भोगादे निरूपणे ये जो गौण व्यापार है भोगादि का निरूपण में गौण व्यापार होता है उनका निरूपणे से निपुणा दो में गुण का विचार में और गौण व्यापार जो विषय कहा है भोगादि का विचार में निरूपण है वो निपुण है कौन सांख्य कापिल आदि तथापि कथम तदीयम शास्त्र मत प्रमाणिकतम फिर भी यहां वो शास्त्र में प्रमाण कैसे करें यथावत श्रीमता ने भी कैसे बोल दिया आपने वह जैसा कहा वैसे हम सुनो प्रमाणित करके भगवान बोल रहे हैं भगवान का है प्रचित गुण संख्या ने यथावत श्रीमता ने भी तो कैसे कहा ये शंका आ गई तो कहते ते ही कहा हुआ है ते ही कापिला गुण गौण व्यापार रूपये अभिता गुण के व्यापार और गुणों का कार्य का व्यापार गौण वाले कार्य तो निपुण है वो तो सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं गुणों के विषय में और उसके जो गौण कार्य है उसके विषय में निपुण कहा अभियुक्ता निपुण है वो यदि तत्शास्त्र उनके जो शास्त्र है तेसाम शास्त्र तत्शास्त्र उनके जो शास्त्र है कापिलादि के शास्त्र बक्षमाणार्थत्व उपाधि आगे कहने वाली जो बातें हैं गीता में कहेंगे अभी ज्ञान के तीन प्रकार भेद आदि की प्रशंसा के लिए है हाँ, उनके शास्त्र में कहा गया यह कहना है इसलिए विरोध नहीं ये कहना है टीका में कहते हैं ज्ञानादिशु प्रत्येकम अभांतर भेदो भक्षमाणो अर्थ ये भक्षमाण अर्थ क्या ज्ञान आदि में प्रत्येक तीन तीन प्रकार का भेद प्रत्येक में यही भक्षमाण अर्थ है कहने वाला अर्थ तस्वीर तंत्रांतर भी अन्य सिद्धांत कौन कापिल सिद्धांत में तंत्र मान सिद्धांत अन्य सिद्धांत में भी सांख्य सिद्धांत में भी प्रसिद्धि कथन प्रसिद्धि कथन है तुति तादर्थ है इसलिए तुति है वहां भी प्रसिद्धि है कथन प्रसिद्धि है जैसे कहा जाता है उस प्रकार वहां भी है तादर्थ है ना इसलिए उस स्तुति के लिए होने से काबिला कापिलादि मत उपादान यह उपयोगी इसलिए आदि जो मत है कपिलादि का जो सिद्धांत है गुणों का चर्चा यहां करना उपयोगी है क्यों तीन प्रकार के ज्ञान अनुभव में आता है तीन प्रकार के कर्म तीन प्रकार के कर्ता आदि तृतीय पाद से अविरार्थ तो नहीं तृतीय पाद पृछते गुण संख्या ने तृतीय पाद है स्वरूप में ज्ञान कर्म करता अच्छा त्रिदय गुण वेदता ये द्वितीय पाद तो हो गया तृतीय पाद पृछते गुण संख्या गुण संख्या काफी शास्त्र है वो तृतीय पाद से अविरुद्धार्थ तो ले दे सांख्य शास्त्र है तृतीय पाद का अर्थ सांख्य लिया हुआ है उसके साथ कोई विरोध नहीं यहां ये दिखा दे समापन करते हैं न कहा हुआ है वासी में न विरोध कोई विरोध नहीं इस अंश में विरोध नहीं है सिद्धांत में विरोध है उनका अभाव इस अंश में विरोध नहीं है यथावत इत्यादि यथावत श्रोता ने भी कहा चतुर्थपाद उनको भी सुनो कहा हुआ है यथार्थता सुनो यथा न्याय यथाशास्त्र बोल दिया है जैसे युक्ति संगत हो शास्त्र संगत हो उस प्रकार से सुनो युक्ति से विघटे शास्त्र से विघटे उसको सुनो नहीं कहा है कहा यथा न्यायम यथावत माने यथा न्यायम यथा शास्त्र सुनो तानी अपनी ज्ञानादि ने जो कहा गया ज्ञान आदि तीन कहा है यहां जो ज्ञान कर्म कर्ता तीन कहा हुआ है तद भेद जाता है उनका भेद तीन तीन प्रकार का भेद होगा सात्विक राजस तामस ज्ञान में भी होगा कर्म में होगा कर्ता भी होगा गुण वेद कृतानी किसके कारण ज्ञान आदि वेदा गुण के कारण सतगुण रजगुण तमुगुण के कारण श्रेणो सुनो बक्षमाणे अर्थे मन समाधान गुरु है आगे मैं कहूंगा तीनों वेद तीनों में तीन तीन वेद बताऊंगा उसको मान एक मन एक एकाग्र कर सावधान करके रखो ये कहा हुआ है समय हो गया है यही रखते हैं फिर कर ओम मद पूर्ण पूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सा